मेरे बंधु बंधुओं के बीच में मैं अपने को पाकर हम सुख का अनुभव करते सुखपूर्वक हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम आगे ये सब हमारा सुख का अनुभव अभिभूति जो अनुभव अभिव्यक्ति और संप्रेषण इनमें से जो कुछ भी आपको को पहुंचता है वो सब हमारा पुण्य का एक भाग ऐसा मैं मानता तो अभी आज आज जो है ना इस मुद्दे पर हमको कुछ बार हमारा अनुभव को बताने के लिए कहे हैं कि सहस्तित्व तो निश्चित वर्तमान सहस्तित्व तो निश्चित प्रभावी सहस्तित्व में हम जब हम सब जी रहे अनुरेणु कणकाश सभी का सब सहस्तित्व में है इसको हमने देखा है समझा है जी है तीनों बात यह हम इन तीनों भागों में किसी को भी शंका हो उसको हमसे पूछ सकते हैं समझ लिए तो सहस्य जो नृत्य वर्तमान है इसको हमने देखा पहले तो जैसा एक अस्तित्व में व्यापक वस्तु है व्यापक वस्तु को हम ऊर्जा के रूप में समझा और मानव में ज्ञान के रूप में समझा समय ऊर्जा सभी भौतिक रासायनिक वस्तुओं को प्राप्त इसका प्रमाण है सभी भौतिक रासायनिक वस्तुएं क्रियाशील जब तो ऊर्जा में संपृक्त होने के आधार पर तो भिगे रहना के आधार पर ऊर्जा संपन्नता हर वस्तु में प्राप्त वो भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं हुए तो उसके बाद ज्ञान की बात आती है शुरू शुरुआत होता है वह है कल्पना चिंता से तो केवल जिन्हें किया है जीने की आशा के आधार पर जीव संसार जीने की आशा के रूप में ऊर्जा को प्राप्त और मनुष्य में ज्ञान के रूप में प्राप्त मनुष्य कल्पना चिंता के आधार पर ज्ञान ज्ञान संपन्न होने की व्यवस्था बना हुआ हर मनुष्य में कल्पना चिंता का स्वतंत्रता वर्तमान है एक कल भी बात हुई थी आज भी एक बार और गया कल्पना चिंता विधि से ही हम सदाकार तद्रूप विधि से ज्ञान संपन्न होते हैं इसका विधि एक ही आज तक ये कितने भी यदि पहुंचे हैं ज्ञान संपन्न हुए हैं इसी विधि से हुए हैं यदि ज्ञान संपन्न होना है इसी विधि से है ज्ञान संपन्न नहीं होने वाले तो होने के अवसर इसी विधि से तीनों स्थिति में ऐसे तीनों स्थितियों को अच्छे क्षेत्र समझा तो उधर ज्ञान संपन्न संता का मतलब तो सहज में ही होता है ये वो भौतिकवादी आदर्शवादी विधि से प्रकट नहीं हुआ तो इसी के आधार पर इसको विकल्प नाम रखना विकल्प नाम रखने का मतलब ही नहीं और कोई कारण नहीं तो इन दोनों में से प्रकट नहीं हुई थी हम प्रकट करना हो तो यही हुआ तो ये प्रवेश परंपरा आपको क्या दिया ये बात आती है परंपरा ने हमको भाषा दिया और सेकंड है विज्ञान में जैसे तकनीकी आई और भारत भाषा जो परंपरा से आई अभी तकनीकी भी अल्प मात्रा में विज्ञान से ये परंपरा से ज्यादा मात्रा में आई उसको ऐसा अपन समझ सकते हैं आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुओं को निर्माण करने में परंपरा में आया है और दूर श्रवण दूर गमन दूर दर्शन संबंधी तकनीकी विज्ञान विज्ञान संसार शुरू होने के बाद प्रचलित हुई अभिलाषा ही पहले से ऐसा बात सोचा जा सकता तो उसमें ना दो विभाग हुआ विज्ञान विचार का ये तो सामरिक विधि से तकनीकी विकसित हुई और दूसरा जो है ना समाज और समाज के अपेक्षा के अनुसार ये तकनीकी विकसित हुई जो प्रोडक्टिविटी सब को प्राप्त होते ये बात हमको समझ में आए तो उस ज्ञान के भाग में हमें पता चला तो ज्ञान जो है ना ये ये भाग जो तो मूल में है क्या ज्ञान ही मूल वस्तु है ये बात आदर्शवाद भौतिकवाद दोनों ने पकड़ा फलस्वरूप क्या हुआ मानव का अध्ययन नहीं हुआ इसका प्रमाण क्या हुआ मानव का अध्ययन हुआ ही मानव का अध्ययन न होने से क्या हुआ मानव अपने मनो की मनोगत वृद्धि से ही ना बना अभी एक मानव अनेक अनेक रूप में जीता है एक दिन में एक मनुष्य अनेक रूप में एक दिन में ही इसको अध्ययन करने की बात है देखने की बात है समझने की बात है तो मानव एक रूप में सवेरे से शाम तक ही नहीं पाता कोई भी आदमी यहाँ तक हम हैं तो जब जिस पर है कोई शायद ज्ञान संपन्नता से होता है ज्ञान संपन्नता क्या है सहस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान पहले सहस्तित्व क्या है तो स्वास्थ्य को नित्य प्रभावी देखा नित्य प्रभावी का मतलब क्या है नृत्य प्रकटनशील नित्य प्रभावी का मतलब क्या है स्वास्थ्य को नित्य प्रकटनशील प्रकट होता ही जाता है कब तक होता है कुछ है जब तक अपने प्रतिरूप जब तक प्रकटना अब प्रतिरूप में मानव को मानव का सृजन मानव के पास सबके पास आजकल बुढ़े से बुढ़े हुए आदमी अब बच्चे से बच्चे के पास कल्पना की कर्म स्वतंत्रता रखा उसमें से कर्म तो स्वतंत्रता को मनुष्य प्रयोग किया कल्पनाशीलता के आधार पर तो कल्पनाशीलता का तत्व में जो प्राप्त प्राप्त नहीं किया न अध्ययन गम्य नहीं हुआ व्यवहार गम्य नहीं हुआ विचार गम्य नहीं हुआ अब व्यवस्था गम्य नहीं हुआ ये सभी बातें हमारे पास रखे हुए विषय सत्यम के कारण से अनेक अनेक स्वरूप में एक व्यक्ति जीना बनता है इसको एक रूप में लाना क्या चीजें तो पहले साहित्य में होने से तो ज्ञान होने से एक रूप में नहीं का कम मिलता है उसे साहित्य में ही पुनः मिलता है जीवन ज्ञान जीवन ज्ञान क्या चीज है एक गठन पूर्ण परमाणु गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन पर जीवन को देखना जीवन में जीवन में जो है ना जीवन क्रिया में दस क्रियाएं सदा काम करते रहते हैं जिसमें से मानव परंपरा में अभी तक मानव जो ब्रह्मश साढ़े चार क्रिया में जीता है और जो उसके बाद साढ़े पांच क्रियाएं लुप्त रहते हैं उसको प्रकट करना जागृति और साढ़े चार क्रिया में जीना भ्रम ऐसा मैं मैं, मैं मुझको समझ में आया उसको हम उल्लेख आवेश भी किया है तो ब्रह्मवश मनुष्य है ना व्यक्तिवाद और नहीं है व्यक्तिवाद भोग के लिए और समुदायवाद झगड़ा करने के लिए व्यक्तिवाद भोग के लिए समुदायवाद झगड़ा करने के लिए ये देख तो झगड़ा करता करेगा नहीं झगड़ा करता करेगा कब कब इसका विराम है पूछा इसका विराम है तो सामाजिक तत्व को बुलंद बनाना है ये आ गए मैं होते होते हमें क्या होगा सामाजिक तंत्र को बुलंद बनाते बनाते धरती बीमार धरती बीमार होने के बाद आदमी कहाँ से रहेगा कहाँ समर करेगा कहाँ विद्युत रहेगा कहाँ संघर्ष करेगा क्या कर दिया अभी आपका आपका स्कूल में यदि कोई सड़क करना चाहे संघर्ष करने वाला उस सुधार चाहते आपका स्कूल में यदि कोई आता है तो उसी प्रकार से आप भी यदि सेलेक्ट करते हैं संघर्ष ज्यादा कर सके उनको असेलेक्ट करते हैं ये तो सलेक्शन जो विधि बनी ये मानव को विभाजित करने का काम है मुख्य बात यहां से तो अभी सेलेक्ट करने के बाद अब पता चला वो ज्यादा से ज्यादा यद तो कर सकता है संघर्ष करता है घर कर सकता है ज्यादा पैसा पैदा कर सकता है यहां तक हम पहुंचे ठीक है भाई ये ऐसा तो ठीक ही माना जाए इस पैसा पैदा करने वाला क्या कई मूल में गए अपराध के बिना पैसा पैदा होता है अपराध प्रवृत्ति का सहमत हुए बिना पैसा पैदा नहीं होता इकट्ठा नहीं तो क्या चेंज है तो सबके तभी आया समाधान समझने को रखे आए सिक्योरिटी से सहज सिक्योरिटी से समाधान समृद्धि पूर्वक देने पर ये जितने भी सुविधा संग्रह की प्रवृत्ति है वो समाधान समृद्धि में भी नहीं हो सकता ये भी देखा उसको हमने जी के देखा तो हमारे पास संग्रह नहीं है किंतु तो हम समर्थ हम समृद्धि पूर्वक देते हैं हमारा हाथ पैर से हम जोड़ घूमते हैं हमारा काम पूरा करते हैं एक और अब सारे बात कैसे पोषण सारे बात शरीर का शरीर पोषण संरक्षण समान करने के लिए शरीर पोषण संरक्षण के रूप में सभी वस्तुएं उपयोगी हैं जो वस्तु हम उत्पादन करते हैं जिसका हमने छह डिजिट में बता दिया आहार आवास अलंकार दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन इनमें से आहार आवास अलंकार हम शरीर पोषण संरक्षण के लिए उपयोग उसके बाद समाज व्यक्ति के लिए गति में भागीदारी करना है उससे जिन्हें दो श्रवण दो दमन दो दर्शन काम कर सकता है ऐसा मैं कह रहा उसको आप लोग परीक्षण कर सकते हैं बाकी जो विषय के भाग है वो हमारा परीक्षण किया हुआ है तो आहार आवास अलंकार पूर्वक हम अच्छी तरह से हमारा परिवार के या शरीर पोषण संरक्षण हम कर सकते हैं यहाँ उसके बाद आया कि सहस्त्र जमीन नहीं है सहस्त्र निर्णय पर एक समुदाय चेतना से छुटकर हम मानव चेतना में परिवर्तित होते हैं क्या परिवर्तित होते हैं ये गुणात्मक परिवर्तन कहा गया यदि एक पर नहीं होता है हम हम समुदाय चेतना में ही रह जाएंगे व्यक्तिवादी चेतना में ही रह जाएंगे व्यक्तिवादी चेतना का हसरत बताया समुदाय चेतना का हसरत बताया आज तक की आज कल ये सुधरता है तो हम नहीं जानते ये तो आज तक के प्रसिद्ध हैं हर समुदाय का हर व्यक्ति इसको मूल्यांकन करने के बाद शोध शोध करने के बाद निर्णय लेने की बात यदि ऐसा ही है आपको भी ऐसा ही लगता है आपका भी आवश्यकता इसी बात की बनेगी सहस्त्र में देकर जीकर समाधान समझे पूर्वक संसार का उपकार करने की व्यवस्था बनता है समाधान समझने के बिना मनुष्य उपकार करने वाला नहीं अभी हमारे यहाँ हम अनुभव किए हैं रोटी तो रोटी देने उनको रोटी देने पर उतार ऐसा पैदा जबकि रोटी देने से उतार नहीं ठीक है रोटी दे करके किसी का पेट भरना हम देखते नहीं पुनः भूख लगता है अब क्या करें अब रोटी लिया हाँ, एक एक बच्ची तो कहते हो उससे भूख में गया ऐसा हुआ है कि लोग उसको ले जा करके नौकरी में रहे नौकरी में करके आदमी को चाहे तीन रोटी हजार रोटी का पैसा दिया उसमें भी भूख नहीं मिला इस आधार पर सुविधा संग्रह तो के आधार पर सुविधा संग्रह पर सिविल मिलता नहीं अब क्या है अब उसके पहले हम गए उसके पीछे सुविधा सुविधा संग्रह के पहले हम जवाहरलाल समाधान चले गए भक्ति भी रखेंगे भक्ति व्यक्ति में साधना की बात कही हमारे शास्त्रों में ये कहा है ये भक्ति व्यक्ति साधना से मिलता है साधना का साधक साधक जो रहते हैं उनको संसार ने खूब सम्मान किया मैंने सम्मान किया पूजा किया पाठ किया दक्षिणा चढ़ाया सब कुछ किया खाना खिलाया सब कुछ किया करने की बात नहीं साधना से जो फल मिलना था वो संसार को मिला नहीं साधना से जो फल मिलना था वो संसार को मिला था पुनः और एक बार साधना से साधक संसार में हजारों लाखों करोड़ों हुए वो साधना से जो फल मिला वो संसार को मिला ये बात अच्छी तरह से अपने को शोध करना चाहिए और शोध करके निर्णय लेना चाहिए ये नहीं हम कह दिए इसलिए मान लें ये हमारा मत नहीं है हमारा मत है हम जो हम जो अनुभव किया है वो आपका जो करना हमारा काम है उसके बाद आपको शोध करना है इसका उपयोगिता कितना है प्रयोजन कितना है कितना हमको करना है इसको आपने हर व्यक्ति अपने में शोध करें ये बात हमारा अंतिम है यदि ये स्वीकार होता है तब आगे की बात यह है तो हम प्रकटन से सहस्त्र तो सहज विधि से जहां तक है सहस्त्र तो को सहस्त्र का तो प्रतिरूप हो जाए प्रतिरूप हो जाए का मतलब है अस्तित्व तो प्रमाणित हो जाए सहस्त्र में तो, तो स्वयं प्रकटनशील है अब प्रकटनशीलता में सहस्तित्व प्रमाणित हो जाए इतनी बात मूल सिद्धांत नहीं इस आधार पर साहित्य नृत्य प्रकटन होने का प्रयोजन हमको समझ में वो उसमें जो है ना पता चला मानव ही साहित्व का प्रतिरूप है साहित्व में जीने योग्य एक इकाई है वो मानव जाति है मानव जात यदि मुकर गया तो जीव जीव चेतना में जी करके सकल अपराधों को वही होना उसके फलस्वरूप यह धरती भी मार गई दर्जे बीमार होने के बाद आदमी जागता है भाई प्रश्न यहाँ आता है तो इसके इस प्रश्न को इस प्रश्न का उत्तर में यही है मानव अपराध मुक्त होना प्रमुख होना एवं का मान्य वृद्धि ब्रह्मुक्ता और अपराध मुक्त होने के विधि क्या है भाई तो सहज तत्व को हरे प्रकार से अध्ययन किया जाए सहज तत्व में जीवन का अध्ययन किया जाए व सहज तत्व में मानवता पूर्णाचरण को हरे प्रकार से अध्ययन किया जाए ये तीन बात ये तीन बात में मानवतापूर्ण आचरण के आधार पर हम अच्छे तरह से मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान को पा सकते हैं उसको हम लिख चुका उसका उसका लेखन कर्म पूरा हो गया उसको किडो चाहते हैं वो देख भी सकते हैं इच्छा होने पर ये सब बातों को देख करके हमारा इच्छा होगा ये जब ये सब बात ऐसा सत्य जैसा लगता है सत्य है भी हमारे लिए सुखपूर्वक सत्य का मतलब है सुख होना तो यदि तो हमको हमको समाधान पूर्वक सुख होता है इसका मतलब है सत्य समझा हूँ इस विधि से है संसार को सत्य को बोध करने प्रबोध करने के लिए शुरुआत किया ये इसके लिए कुछ लोगों ने कहा तुम आशावादी पहले तो आशावादी हो ये कहा इसके इसके आधार पर निरक्षा तो करके आप कौन सा पहाड़ पहुंचते हैं वो बता दें हम पृथ्वीवाद तो उसमें उसने कुछ निकला नहीं तो इसके आशावादी होने के लिए क्या क्या करना होगा अपना उस पर हम प्रयत्न शुरू किया इस प्रकार से वो करके करीब कई प्रकार से हमारे साथ भी और वो लेनदा तो सब आते गए होते होते होते थोड़ा भी ना लेनदा से मतलब है ना तो सोचते से मतलब है समझने से मतलब है समझाने से मतलब यह हम पहुंच अब समझने समझाने के बारे में मूल मुद्दे को आपके आपके समुख रख रहे हैं सर्वस्तित्व ज्ञान संपन्न होकर के सर्वस्तित्व में जीना ही हमारा लक्ष्य मानव का लक्ष्य सहस्रज्ञ स्थिति में क्या मतलब जो तो पदार्थावस्था पारण प्राणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था कालावस्था ही धरती पर प्रमाण सहस्र ज्ञानावस्था में सहस्त्र पूर्वक जी ने कहकर सहस्त्र में ज्ञानावस्था में मानव ही है सभी सर्वमानव ज्ञानावस्था में इस तरह से किसी समुदाय विशेष हुआ ऐसा भी बात नहीं हुआ मानव को जो अच्छा है वो वो भी बताए हैं इस पर करने के लिए पूरा वे प्रयत्न किया है वो शिक्षा विधि से प्रस्तुत कर की कौशिक शिक्षा विधि से प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यकता है एक दर्शन की आवश्यकता है उसका नाम दिया ऐसा हुआ दर्शन मध्यस्थ दर्शन नाम दिया उसे उसका वाद नाम दिया सहअस्तित्ववादी तो उसके मूल में कहा अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन इस तरह से शीर्ष श्वकर इसके आधार पर पूरे बात को कहा है तो मानव शिक्षा हो तो और शैक्षणिक विधि से इसको समझ सकते हैं पूरा समझ करके जी सकते हैं जीने देने के जीने देकर जी सकते हैं पहले समझ सकते हैं उसके पहले पढ़ सकते हैं उसके पहले सूचना प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद ज्यादा पढ़ने के बाद समझ सकते हैं समझने के बाद जी सकते हैं जिन्हें जीने देकर जी सकते हैं ये कितना पांच अवस्था है बनती है इसमें से जीने देकर जीने के स्थिति में हम मानव देव मानव देवी मानव रूप में जीना बनता है दिव्य मानव रूप में जीने की स्थिति में सर्वाधिक हम उपकारी होते हैं उपकार क्या है और उनको समझाना सीखा और को सिखाना और समझा करा करा हुआ को कर ये चीज समझे क्या समझना है विगत है सारा तत्व को समझना सारा से में जीना सारा तत्व को जीने सारा तत्व में जीने देना कैसे जीने देना पदार्थावस्था प्राणावस्था देवावस्था और मानव को मानव पर दूसरे को आगे पीढ़ी को जीने देना पीछे पीढ़ी को पीछे पीढ़ी जीना ठीक है ये ये बात को हमने अच्छे तरह से अनुभव किया है इससे कम मैं कोई आदमी आदमी आदमी उपकार करना बनता नहीं इससे ज्यादा उपकार करना भी बनता इसको अच्छी तरह से हम समझें यदि ये पड़ता है इस आधार पर लिखे हुए जो कुछ भी प्रयत्न किया हुआ और एक रूपरेखा बनाया हुआ जो शिक्षा विधि है उसको कोई भी संस्था आजमा सकता है परीक्षण कर सकता है इतना इतना पहला अच्छा है निर्जय प्रभाव है और उसके बाद कहेंगे क्या से समय जीते समय में संबंधों को पहचानने की बात है संबंधों के बारे में ये बात तय किया है मानव के साथ मानव का संबंध मानव अन्य मानवीय तत्व प्रकृति के साथ संबंध इन दो प्रकार से संबंधों को पहचानता तो मानवीय तत्व प्रकृति को उपयोगिता सुंदरता मूल्य के आधार पर पहचानता है मानव प्रकृति को तो तीन चार प्रकार से पहचानता जीवन मूल्य के आधार पर सुख शांति संतोष आनंद के आधार पर और मानव मूल्य के आधार पर अथवा दृढ़ता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के आधार पर और के आधार पर मानव मूल्य स्थापित मूल्य के आधार पर कृतज्ञता गौरव श्रद्धा प्रेम विश्वास के आधार पर तो पहचान इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम मानव संबंधों को पहचानते हैं सात प्रकार से सर्व प्रकार से सर्व संबंधों को बताते हुए वह उन समाज का रचना को तय करते हैं तो इन परिणाम को यदि सके हम अध्ययन करते हैं हम भागीदारी कर सकते हैं इसको अध्ययन में बन सकते हैं ये कुल मिला के मानव संबंध का मतलब क्या है सहस्त्र रूप में है समाज को पहचानने का मतलब क्या है सहस्त्र में जीने का मतलब सहस्त्र में जीने का मतलब क्या है जीने देना जीना ये आवश्यक है कि नहीं सोचने की बात उसको सुना हर हर बुद्धिमान सोच सकता है सोच सकता है जीने देने जीने की विधि से हम अपराध मुक्त हो सकते हैं ये बात को अनुभव किया और यदि जीने देने जीने में हस्तक्षर करते हैं हिंसा के अलावा कुछ होता है बात बात पक्का है कच्चा है ये ये बात पक्का है कि कच्चा पक्का है है इस आधार पर हम आगे चल करके हमने समाजों का भरवाइजा किया पूर्णता के अर्थ में प्रतिज्ञा पूर्णता को पूर्णता के अर्थ में निर्वाह करने का प्रतिज्ञा का नाम है समान पूर्णता क्या है क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता दो पूर्णता की बात करें एक पूर्णता तो पहले से क्रिया पूर्णता गठन पूर्णता पहले से जीवन में है वो निरंतर नित्य है हमारा है वो, वो कभी भी प्रस्तापन प्रस्तापन नहीं होता है इसीलिए पूर्णता उसका नाम है उसके आधार पर श्रेय पूर्णता आचरण कथन पूर्णता हर परमाणु में होता है तब वो जीवन पद में संक्रमित होता है जीवन पद में संक्रमित होने से परमाणु में कौन सा विशेषता होती है विशेषता ये होता है मध्य में एक अंश हो जाता है पर प्रथम प्रवेश में दो दो क्रिया होती है सदृति परिवेश में आठ क्रिया होता है तो परिवेश में अठारह क्रिया होता है और चतुर्थ परिवेश में बत्तीस क्रिया है इसको अच्छी तरह से स्पष्ट किया है हम आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं जो समझना चाहते हैं उनके लिए प्रस्तुत ठीक है तो ऐसे ऐसे पूरा प्रेम को प्रेम को जब करते हुए मानव जैन अनुभव सत्य को प्रयोग करता है तब सहस्त्र में ही जीना होता है सहस्त्र में जीना से यही स्वरूप बनता है जीने देना बनता है तब क्या होता है मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना बनता है मानव जात के साथ जीने में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना बनता है इन इनसे छेद के साथ हम जिले से हम सामाजिक हो सकते इससे कम मैं कोई सामाजिक होता ही नहीं बात ऐसा बनता है ऐसी स्थिति में ये नए सहस्त्र निश्चय प्रभावी होने के सहस्तित्व में मानव समानों को पहचानने के संबंध में स्पष्टता इस प्रकार से आता है यदि नहीं आता है तब तो व्यक्तिवाद समुदायवाद ही होता है व्यक्तिवाद समुदायवाद किस बात के हुए संघर्ष के लिए युद्ध के लिए भोग के लिए तीन बात के लिए इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं संघर्ष युद्ध और भोग और संघर्ष संघर्ष में जो है ना शोषण निश्चित एक दूसरे के प्रति शोषण विधायकों को निश्चित आज जैसा एक देश दूसरे देश को शोषण करने के लिए सोचता है एक परिवार दूसरा परिवार को एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को शोषण करने के लिए सोचता है वो वो सब समाप्त हो जाता है इसलिए समाप्त कितना होता है हर व्यक्ति में समाप्त होता है समाप्त होकर के क्या होता है तो समाधान समृद्धि पूर्वक देना पड़ता है समृद्धि श्रम से मिलता है समाधान समझदारी से करता है समझदारी से समाधान उपलब्ध होता है सबको और से सबको समझते ही पुरस्कार इस प्रकार से जीने के क्रम में हम व्यवस्था में सकते तो इसी आधार पर आगे की मुद्दा यही है तो साहित्य समय ही हम अखंडता और अनुभवता को अनुभव करते हैं अखंडता किसमें अनुभव करते हैं सर्वमानव एक जात सर्वमानव एक धर्म इसको अनुभव करते हैं सर्वमानव में ये सर्वमानव के लिए एक ही धर्म है मानव धर्म ठीक है और मानव मानव भेद की जाए क्योंकि शरीर का जो आधार पर जाति को अनुभव किया जाता है जीवन के आधार पर धर्म को अनुभव किया जाता है जीवन में धर्म का व्यवस्था है और शरीर में जो है ना रचना का व्यवस्था इन रचना अवस्था में जो तत्व न्याय नियोजित है वो सभी सभी सभी समुदाय के व्यक्ति में काले गोरे गोरा सभी आदमियों में जो नियोजित है वह तो ही का प्रजातियां एक का रचना एक है अब मांस पंक्षियों का भरना एक साथ रसों का व्यवस्था एक साथ इन सभी आधारों पर जब मानव जाति को एक रूप में बैठना सकते एक दूसरी चीजें जो आहार व्यवहार में आते हैं आहार विहार व्यवहार में आते हैं आहार पद्धति में हम आते हैं तो आहार आहार में जो है ना पानी भी स्थानावर पे ना तो खाना तो ये हर हर प्रजाति के जीव में प्राण प्राणमा हर निश्चित गाय घाटे करता है बाघ गाँव पांच करता ठीक है तो जब उसके बाद आता है मैं जब जब न जो मांसाहारी जीव जीव से पानी पीते और जो शाकाहारी जीव वोट से पानी पीते इसको अपन हर जगह में देख सकते हैं समझ सकते हैं अध्ययन कर सकते हैं उसके बाद जो मांसाहारी जीवों का आते हैं छोटे होते हैं जब शाकाहारी जीवों का आते हैं अलग है नकुंदा मांसाहारियों का अलग होता है अलग तरीके के होता है शाकाहारियों का अर्थात नाखून ये सब अलग तरीके के होता है ये रचना है व्यवस्था व्यवस्था में अलग अलग दिखते हैं इस प्रकार से मानव का मानव को अध्ययन करने से पता लगता है मानव कार्य रचना को अध्ययन करने से मानव क्या है यह पता है इसको अच्छे तरह से संसद समझ सकते हैं जैसा इच्छा हो वैसा ये सकते हैं क्या करते हैं कोई कर सकते हैं ये बात है इस तरह से जो मानव जो है ना एक प्रकार से आहार व्यवहार व्यवहार करने पर व्यक्तित्व है सर्वमानम यदि आहार विहार व्यवहार ये एक दूसरे के साथ सुसंगत हो गए न्याय सम्मत हो गए समाधान संगत हो गए सब मानव जात में पैदा हो उसके पहले मानव जात क्या मानव जात है ही नहीं मानव जात का भौतिकवाद अध्ययन नहीं कर पाया ना आदर्शवाद कर पाया दोनों ने छोड़ रखा दोनों ने उसका बातें नहीं बताने नहीं किया तो फलस्वरूप तो माना माना जा एक हवारा टाइप की चीज हो गई हवारा टाइप की चीज होने से क्या हो गया मनमानी चीजें की बात है मनमानी नहीं की जरिए में क्या हो गया समुदाय को रचना की आवश्यकता है अपने संरक्षण के लिए इस इंसान देना हम फंस गए वो जी उसी में अपन फंसते फंसते फंसते अंत पर अपना अपराध को विधि मानते विधि मान करके चलते अब धरती बीमार होने के बाद हम पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हो ये बात यहाँ जाकर के पकड़ा है अभी जैसा बुद्धिमानों को जैसा लगता है वैसा करते नहीं है ऐसा मेरा विश्वास यह ज्ञान सबके खास होता है अब ऐसे कितने मुद्दे में अभी तीन मुद्दे है तो एक सहस्त्र तो बताया कैसा है क्यों है उसका प्रत्येक के बारे में बताया उसने सहस्त्र से प्रकटनशील बताया उसके बाद जाना अखंड समाज सार्वभौम अवस्था के बारे में सार्वभौम अवस्था के बारे में और थोड़ा सा बताना है सार्वभौम अवस्था से मतलब यह है चारों अवस्था में संतुलन पदार्थावस्था प्रमाणावस्था जीवावस्था ज्ञानावस्था में संतुलन जी निरंतर बना रहता है वो व्यवस्था यदि नहीं है व्यवस्था ये बात है ये ये है कि नहीं बढ़ता है पता नहीं तो धीरे धीरे समझ में आएगा जब हमें यही समझ में आता है तो तब क्या होता है समय सबके साथ देने के लिए नियम नियम तरल संतुलन न्याय धर्म पूर्वक ही देना पड़ेगा नियम नियम तरल संतुलन पर मनुष्य प्रकृति के साथ हम जीते हैं फल स्वरूप क्या है वो अपने पास जो होने के स्वरूप बना हुआ है जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है प्रकृति स्वयं बनाया है सारा तो स्वयं प्रकटनशील विधि से बना हुआ है इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस प्रकार से मनुष्य के साथ न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना होगा सत्यपूर्वक जीने से मनुष्य मानव परम्परा संतुलित रहता है नियम धन संतुलन पूर्वक जीने से मनुष्य प्रकृति संतुलित रहती है मनुष्य को प्रकृति संतुलन संतुलन में अति आवश्यकता है कि नहीं देखना होगा मानव मानव संसार संतुलित रहने की आवश्यकता है कि नहीं उसको भी देखना होगा यही अपना स्रोत का आधार इन शोधपूर्वक यदि जीना होते हैं हम अच्छे तरह से जी करके उपचार कर सकते यहाँ तक के आज का वक्तव्य का प्रशांत हो उसमें से अब लोगों में सुनने की बात जो कुछ भी आपको शंका होती है उसको हमसे पूछ सकते हाँ ठीक ठीक है ठीक मनोज सहस्व रूप में हो जाए सहस्व का प्रतिरूप हो जाए इसका अर्थ क्या है अच्छे ये सहस्व नित्य वर्तमान है और इसको ये ज्ञान होने से सहस्व में हम ले सकते हैं कोई प्रतिरूप सही बात है छोटी सी बात सहस्व ज्ञान संपन्न होने का अधिकार मानव को है मानव यदि अधिकार अधिकार का प्रयोग करता है सहस्व में जीना उसका प्रमाण है सर से तो स्वयं वर्तमान है ही इसमें विषय होते विषय प्रमाण आपको अच्छा, बताए बाबा ये कहते कि इसमें मानव जीवन और शरीर के तहत में है इसका मतलब इतना ही है तो प्रतिरूप का मतलब इतना ही है कि इससे ज्यादा भी कुछ है जीवन और शरीर क्या संयुक्त रूप सहारे तो, तो जीते है ही तो ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है तो स्वरूप स्वस्वरूप ज्ञान के लिए ये बहुत पहला कदम है ही उसके बाद का सभी संसार सर्व तत्व में प्रकटनशील है केवल मानव नहीं है मानव जो है ना पदार्थ के बाद परमावस्था प्रकट हुआ है इस बात को अध्ययन करता है और उसके बाद प्रमाणवस्था से जीवावस्था प्रकट हुआ है ये भी अध्ययन करता है जीवावस्था से मानव प्रकृति प्रकट हुआ है इसका भी अध्ययन करता है प्रकट होने को इसके साथ संयुक्त रूप में जीने की विधि का नाम है सहज संयुक्त रूप में जीने में क्या बताया आपको सामान्य क्षेत्र प्रकृति के साथ नियम धन संतुलन पूर्वक देने की आवश्यकता है मानव प्रकृति के साथ न्याय धन सत्य पूर्वक देने की आवश्यकता है ये बात और आगे और आगे और क्या और कौन कोई बात और कोई बात कोई कहेगा बाबा ने एक मुद्दा उठाया था गरीबी अमीरी के बीच में आंदोलन उसको थोड़ा सा और समझना चाहिए कल्याण हो जाएगी तो पूरे कल्याण हो जाएगी अध्ययन की तरफ ले जाना है कि कल्याण हो जाएगी बाबा ने पिछले जो वक्त में बाबा पाठक जी प्रश्न उठा रहे हैं कि बाबा ने अमेरी गरीबी में समानता की बात की थी संतुलन की बात की थी उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालती तो अभी कल इस बात को कहे थे नन्नालयों में समानता समझदारी के आधार पर होता है और गरीबी अमीरी में संतुलन समाधान समझते पूर्वक वो जीते जीने वाले परिवार में जीते होते ये बात का तो इसमें कोई शंका किस बात की शंका किस बात शंका नहीं है थोड़ा सा और भी होना चाहिए हाँ मैंने विस्तार स्वरूप हमारे पास आए ये बात इसमें समाधान के लिए या देन समाधान के लिए अध्ययन में जीत प्रस्तुत किया है अध्ययन में जीते मैंने बच्चों के अध्ययन में जीते लेकर बुजुर्गों के अध्ययन में जीत बात प्रस्तुत किया है एक तो लोक शिक्षा के रूप में प्रस्ताव किया रखा है लोक शिक्षा में डॉक्टर सीधा सीधा व्यवसाय तत्व सारी देने की सात आंशिक संक्षेप को पहले समझाना उसके विस्तार रूप को फिर बाद में समझना बुजुर्गों के साथ करोड़ों के साथ तो उसके बाद उसके पहले जब बच्चों से शुरू करते हैं विधिवत गणना अक्षराभ्यास से लेकर शुरू करते हैं हम संबंधों से शुरू करते हैं पर संबंधों के शर्तों के आधार पर और मूल्यों के शर्तों के आधार पर हम अभ्यास कराते हैं और उस से क्या होता है मूल्यों का संबंधों का ज्ञान हो ही जाता है ज्ञान हो जाता है साल होने पर कुछ कुछ करते नहीं है बच्चे प्रकट होते नहीं है इसलिए को इसको भी देखा गोविंदपुर में इसको देखा बहुत अच्छी रहते हैं इसको देखने से पता चला वहाँ का जो रहन सहन है उसके अनुसार तो वहाँ बुड़बुड़ी पीते गोलगुरई वो दोस्त है कम का पैसा है वो उसको हम गोलगुरई कहते हैं तो उसको उसको पीछे से नहीं मैं ऐसा गोलगुल करता है ऐसे गोलगुरई तो उसके उसके उसको पीछे है उसको हमें वहां के बच्चों को कहते रहे वहां वहाँ तमाकू वो लाओ वे करो वो करो करते रहे तो ऐसा करते रहे उसके बाद बच्चों ने एक दिन उनके बुजुर्गों को कहा हमको भी खिलाओ ठीक है कई को पीना है तुमको पीना नहीं है लड़कियों को लड़कियों ने कहा तो तुमको पीना नहीं तो फिर घर में आप कई को पीते हैं ये बात है उसके बाद कई लोगों ने उसको छोड़ दिया उसी प्रकार बेटी उसी प्रकार सारा सारे बात ऐसा हो कई कई घटनाएं ऐसे तो हमारे रण सिंह रण सिंह जी रहते हैं यहीं रहे यहीं कहीं बैठे हैं वो अच्छी तरह से इसको प्रकाश कर सकते हैं तो वही मूल व्यक्ति वही है वही सब को चलाए थे तो ये तो वहाँ किया उसके बाद अभी रायपुर के पास एक गांव है वहाँ निशान आदिवासियों का गांव केवल आदिवासियों का गांव वहां के बच्चे भी ऐसे ही किए वहाँ के बच्चे भी ऐसे ही कुछ किए हैं वहाँ का प्रकरण में मुकरण भी बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को उसके बाद मैं उसको उनमें उनमें समझदारी को पूरा करने के लिए हम लोग के उससे प्रयत्न भी ये सब दो जगह में प्रयत्न किया दोनों जगह में सफल है ठीक है तो बच्चों में कोई खास अवरोध है ऐसा हमको नहीं लगता तो बचपन से लेकर जो शुरू करते हैं वो पूरा हो जाता के लिए धीरे चला पाते हैं तो मनुष्य में स्थिर हो सकता है ऐसा नहीं कहना उसी के आधार पर अभी छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा सुनसान ये पूरे के पूरे को अध्ययन करने के लिए अपना मन बनाया उसमें तीन भाग तीन भाग है एक व्यवस्था भाग है एक शोध भाग है एक प्रशिक्षण भाग है इन तीनों मिल करके अध्ययन कर रहे हैं कुछ अध्यापकों को भी उसके साथ रखे हैं ऐसा रख करके आगे वर्ष से प्रयोग करने की बात चल रही है ठीक है ये ये बात तो कथन का मतलब क्या हुआ व्यवस्था अस्तित्व में देने के लिए मानसिकता ही एक मात्रा था न कि केवल कार्य केवल कार्य नहीं है यंत्र नहीं है यंत्र में चाहते अस्तित्व तो को प्रमाणित नहीं करेगा ये बात हो गई और उसके पहले भक्ति विरक्ति ये बात कही थी भक्ति विरक्ति सबको मिल नहीं सकता है ये भी बात तो हुई उस बीच में भी ये भी पता, पता चला कि साधना साधकों का सम्मान संसार ने किया है साधना से जो प्राप्ति हुई वो संसार का मिला है ये भी पता लगना है इतना चीज पता है कि बैठ ये प्रस्ताव है ठीक है तो इस आधार पर जब क्या हुई सहज से में जीना एक नितान्त आवश्यक है ठीक है सहस्तित्व में जीने के लिए पूरा समझना आवश्यक है पूरा समझने के लिए सहस्तित्व ही है दूसरा कुछ नहीं है सहस्तित्व में जीवन है सहस्तित्व में मानवता पूर्ण आचरण है सहस्तित्व में विवेक है सहस्तित्व में विवेक ज्ञान है इस सहस्तित्व को छोड़ करके अपन कुछ भी नहीं सोच सकते ऐसा बात कर रहा अभी मनवाने में जिसे सोचे वह वो अपराध केवल चले गए से पर घर से बीमार होने के तक हम काम कर रहे हैं और आप सोच की जगह में आ चुके तो उसका परिणाम क्या होता होगा भविष्य बताएगा हाँ आगे तो बाबा पहले आपने करके समझना और समझ के करना की बात की थी हाँ। अभी आपने अनुकरण अनुसरण पूर्वक अध्ययन बचपन में बचपन से अज्ञान से ज्ञान के वो होने की स्थिति में दूसरा जो है ना जैसा हम कल पर संवाद करते रहे तो यह भी इसके अनुभव के बारे में क्यों गुप्ता जी करते हैं उस समय अंतरण की बात आई क्या अंतरण आचरण का अंतरण कोई मॉडल हो उसका आचरण का अनुकरण किया तब तक हम पूरा समझे नहीं है हृदय गम नहीं हुए प्रमाणित नहीं हुए तब तक बात अनुकरण वाला इससे इससे अध्ययन में मदद मिलेगा हाँ एक स्वाभाविक है यदि गलती से छुट करके सही को मजबूरन कर रहे हैं अंतरण का मतलब मजबूरन ठीक है ना मजबूरन की सहमति पूर्वक मजबूर मजबूरियां सहमति पूर्वक स्वीकार हुआ ठीक है यही बात है उसको कैसा हम पता पता लगाया तो हम सामर्थ्य पूर्वक अपराध कर सकते हैं सामर्थ्य पूर्वक यदि सही करने से क्या करें ये नहीं जा सकते जो कोई के करना निष्कर्ष तो मुद्दा ही नहीं तो जब सामर्थ्य पूर्वक जब अपराध कर सकते हैं सामर्थ्य पूर्वक न्याय भी कर सकते हैं ऐसा बात है इस आधार पर सहमति का अनुमति भी है ठीक है और इसके अनुकरण कर तो बच्चों में अनुकरण की बात है भाषा का अनुकरण बच्चे करते ही हैं कार्य का अनुकरण करते हैं व्यवहार का अनुकरण करते हैं रहन सहन करते हैं अनुकरण करते हैं इसका अभिभावकों का किंतु समझदारी का अनुकरण करना होते अभी अभिभावक बनाना है कोई भी अभिभावक को हम ऐसा नहीं देखा कि अब अपने बच्चों को समझदार बनाना है ये बात है सर्वज्ञान इतना ही है तो समझदारी का पता ही नहीं तब समझदारी कहां से बना है वो तो बना नहीं ये ये ये कमी है रखा हुआ यदि इसको पूर्ति करना है तो स्वयं समझदार होना पड़ेगा ये भी संकट है इसमें जो संकट जो है ना जब ये युवावस्था से अगर बीस वर्ष से अधिक हो गया उसके बाद जो है ना गहरा इसे फंसने का शुरुआत होता है तो पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा काम निकल ही नहीं पाए ऐसा हो जाती ऐसा जात का व्यवस्था बना हुआ अभी तक भ्रम आ गया जागृति भाई इससे छुट सकते जागृति किसको मिलेंगे आगे पीढ़ी को तो मिलेंगे शायद होगी युवा पीढ़ी को थोड़ा सा कठिनाई से मिलेगी और व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय क्या कहता है बेचना फ्रॉड फ्रॉडपेडी फ्रॉडपेडी को का, काफी तक रिश्ते मिलेगा और जो वेलफेयर पेडी को महान तक रिश्ते मिलेगा ऐसा बात कर ऐसा बात ऐसा आकलन नया कर ये सोचना नहीं होता है इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं अच्छा इसमें क्या हो गया वर्तन परोपीढ़ी वर्तपेढ़ी में क्या क्या हो गया दोषानुमान दोषों को देखना ज्यादा बना है न कि गुणों क्योंकि स्वयं में गुणों को या कम उपयोग करते हैं ऐसा आधार पर ऐसा बन गया अच्छा उसका प्रमाण है ये नदी में मैं होना और मानव में अपना प्रवृत्ति बढ़ना अपना पर्याय का दूरी बढ़ना ये सब अपने सामने रखा हुआ बहुत जैसा इसमें से कोई ना कोई बात तो सभी के सामने होगा ऐसा है कहा ठीक है

बाबा अनुकरण अनुसरण को आप पहले बहुत प्रस्तावित नहीं करते रहे ऐसा लगा भी आपने प्रस्तावित करना शुरू किया तो बच्चों के साथ करते थे जो लोग अध्ययन क्रम में लगे हैं उनके साथ बहुत प्रस्तावित नहीं किया तो क्या अब इसकी तैयारी अनुकरण अनुसरण में लायक हो गई है इसलिए कि आप, आप क्या सोचते हैं अनुसरण एक तो आवश्यक भाग है वही करता ही है प्रौढ़ व्यक्ति को क्या करना है अनुकरण करता है स्वयं को फिर अभी जैसा आप ही भेद कर रहे हैं आपके में ना पुस्तकों को देखा वो एक अंतर हो है ना व्यक्ति को देखा है व्यक्ति में यदि गुणात्मक परिवर्तन देखता है तो उसको अनुसरण करते हैं उसको अनुभव करते हैं प्रमाणित करते हैं ये कहते हैं कि नहीं करते दोनों तो व्यक्तियों को इन बातों को कम कहा है और बच्चों के साथ ज्यादा कहा है अनुकरणानुसारणी के बैठ ठीक ये बात थी हाँ, तो समझे नहीं है सभी बच्चे हैं सभी वही हाँ, बात वही समझने के समझाया समझा हूँ ये मान लिया है किसी आयोग के बाद उनके लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं जो थोड़े से इशारे से समझते हैं ऐसा सोच करके बात ऐसा जाता है ये सम्मान भी यही है और एक प्रकार से गंभीरता भी यही है न्याय भी यही है तो इसके सही इसको ऐसा हम जोड़ा इस प्रकार से जोड़ा हम सकारात्मक पक्ष को हम बहुत ज्यादा उल्लेख कर सकते हैं कि तो नकारात्मक पक्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कम से कम उल्लेख ऐसा नहीं स्वीकार ऐसी कई की गलत है आप लोग बताएंगे यदि जरूरत होगा तो उसको भी क्लोज कर ठीक है नकारात्मक पक्ष को हम उल्लेख करता नहीं बहुत कम उल्लेख करते हैं गभे जैसा धरती का बीमारी की बात करते हैं सर्वमानव के समुख प्रस्तुत हो गए हैं इसीलिए उसका उदाहरण देते हैं उसमें दो भाव है एक भाव है कि इसके आधार पर मनन पुनर्विचार करने के लिए तैयार होता है ठीक है सोच विचार करने के लिए तैयार है अध्ययन करने के लिए तैयार होता है यदि यदि इसके इसके चलते तो कई लोगों में प्रभाव पड़ा है ये भी बात है ठीक है अभी दस वर्ष पहले तो ये बात नहीं थी आज इस बात की जागृति के लिए आवश्यकता अनुभव रहा है ये दस वर्ष के बाद और क्या होगा आगे देखेंगे पर ठीक है अच्छा, अभी पूरा कर हाँ अभी इतना ही मैं और क्या कितना हम्म। समय एक ठीक